हाँ बहनी साहब जाने का हमें मौका मिला था कुछ और मैंने देखा कि वहाँ संगीत के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं ladies gentlemen as you probably know we are also celebrating the birthday of his holiness Shri Satguru ji Jagjit Singh ji Maharaj he has done tremendous work to promote Indian classical music and devotional music and creates, created a number of artists who are of world fame. He has encouraged musicians like anything. It is indeed very gratifying. Tonight we are going to witness very young artists playing various instruments. तो सबसे पहले मैं आपकी आज्ञा से हमारे बहुत से शायर लोग भी आए हुए हैं कम से कम शायरी को समझने वाले कुगी जी हैं उनकी पत्नी है वो शेर कहती हैं मैं एक कुछ शेर सतगुरु जी जगजीत सिंह जी जन्मदिन पर लिखे हैं तो आप सुनिए अगर अच्छे लगें तो तालियां बजाइए नहीं तो खामोश रहिए तो उन्होंने संगीत के लिए जो कुछ किया है बाणी के संगीत के लिए और क्लासिकल म्यूज़िक के लिए उन सेवाओं के ध्यान में रखते हुए ये चंद शेर हैं मसलन साथ वो संगीत सम्मेलन करवा चुके हैं संगीत के बहुत बड़े सम्मेलन करवाए हैं जिनके बारे में पेपरों में बड़ी चर्चा हुई है ladies gentlemen Satguru Jagjit Singh ji help organising no less than seven major musical festivals in India which we are widely covered by national media and big tributes were paid to him So I'm going to read a few verses in his honor. Uh, शेर है जी सुर के पहरेदार हैं सतगुरु जी जगजीत सिंह सुर के पहरेदार हैं सतगुरु जी जगजीत सिंह नाद ब्रह्म अवतार हैं सतगुरु जी जगजीत सिंह नाद ब्रह्म अवतार हैं सतगुरु जी जगजीत सिंह कोमल मन और वचन सुहाने सादा जीवन ऊंची सोच सर्वगुणी भंडार है सतगुरु जी जगजीत सिंह उनकी नज़रों में सब प्राणी एक सरीखे लगते हैं उनकी नज़रों में सब प्राणी एक सरीखे लगते हैं और सबसे करते प्यार हैं सतगुरु जी जगजीत सिंह और शेर है अंतिम सतगुरु जी प्रताप सिंह का ये सारा प्रताप है उन्होंने बहुत म्यूज़िक के लिए किया काम सतगुरु जी प्रताप सिंह का ये सारा प्रताप है उनका ही गुलजार हैं सतगुरु जी जगजीत सिंह थैंक यू तो इस श्रद्धांजलि के साथ ही प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं आपके सामने ये चार बच्चे अपना साथ संगीत पेश करेंगे दिलरुबा पर हैं बेअंत सिंह जी इन सब की उम्र 11 से लेकर 13 साल की है सिर्फ बेअंत सिंह जी और वायलिन पर हैं हरनाम कौर जी उस तरफ और दिलरुबा पर रतन सिंह जी और इनके साथ करेंगे तबले पर संगत कर रहे हैं कुलवंत सिंह कुलवंत सिंह स्लैच तो आपके सामने राग बिहाग पेश करेंगे लेडीज gentlemen please enjoy raag Bihag by being played by this children please welcome then